बासठ पृष्ठ में अथवा हेत्वर्थ इति अथवा हेत्वर्थ उत्तरार्धो अभिज्ञातम इत्यादि भाष्य में कहा अभिज्ञातम विजाना अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम यह जो मंत्र का उत्तरार्ध है वो हेतु के लिए पूर्वार्ध के लिए हेतु है अथवा हेत्वर्थ इति लोके सुक्त्यादि तत्व विजानताम यतो अध्यस्तम रूप्यादि अभिज्ञातम भवति सुक्ति में रजत का अध्यास होता है भ्रम जब तक सुक्ति का ज्ञान नहीं तब तक रजत का ज्ञान होता है आदि तत्व विजानता अधिष्ठान सुक्ति तत्व को जो जान लिया सुक्तिरियम तो अध्यस्तम रूप्यादि अभिज्ञातम उस समय रूप्यादि का ज्ञान नहीं होता है अजानता में तो अध्यस्तम विज्ञान भवती सुक्ति को नहीं जानने पर उनको रजत ज्ञान होता है अजानताम तो अध्यस्तम विज्ञात भवति ये प्रसिद्ध है इसी प्रकार ब्रह्म का ज्ञान जब हो जाता है तो अध्यस्त का ज्ञान नहीं होता है तो विज्ञात नहीं होता है देहादि जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो अध्यस्त पदार्थ का ज्ञान होता है तथा ब्रह्मणि ज्ञेयत्वस्य अध्यस्तत्वादेव ब्रह्म में सारा प्रपंच अध्यस्त है कर्तृत्व भी अध्यस्त है ज्ञेयत्व भी अध्यस्त है ज्ञेयत्व ज्ञेय पदार्थ में ज्ञेयत्व है सारे पदार्थ अध्यस्त होने से जितने ज्ञेय पदार्थ हो भी अध्यस्त उनमें ज्ञेयत्व भी अध्यस्त है ज्ञेयत्व से ब्रह्म में ज्ञेयत्व ब्रह्म भी ज्ञेय है ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष ज्ञेयम यत्तत प्रवक्षामि भगवान कहते वो ज्ञेयत्व धर्म कोई ब्रह्म में वास्तव नहीं है दीर्घ रूप ब्रह्म है और ज्ञान से आवृत है जब ब्रह्माकार वृत्ति होती थे होती तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है अज्ञान अज्ञान की निवृत्ति होने मात्र से स्वयं प्रकाश ब्रह्म प्रकाशमान हुआ तो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती न कि ब्रह्म का प्रकाश तो भी ब्रह्म का ज्ञान हो गया अज्ञान निवृत्त होने पर जिस प्रकार गलत गला में माला है अज्ञान से माला खो गई ज्ञान हो गया तो कहते माला मिल गई वो तो गले में है गौण प्रयोग है ब्रह्म का ज्ञान होता है ब्रह्म ज्ञेय वो वास्तव नहीं है उसमें ज्ञेय तो आरोपित है कर्तृत्व भी आरोपित है ज्ञेय तो भी आरोपित है सब अध्यस्त है अध्यस्तत्वादेव तत्वविदो न ज्ञातम ब्रह्म पश्यन्ति इत्यर्थः आरोपित वस्तु को अधिष्ठान को जानने वाला नहीं देखता है सुक्ति को जान लेने के बाद उसको रजत का ज्ञान नहीं होता है इसी प्रकार ब्रह्म है अधिष्ठान ज्ञान जो तत्वविद ब्रह्म ज्ञानी न न ज्ञातम ब्रह्म पश्यति ब्रह्म ज्ञात ब्रह्म ज्ञात ज्ञेयत्व विशिष्ट ज्ञातता विशिष्ट ब्रह्म को नहीं देखते हैं शुद्ध ब्रह्म स्वरूप अपने है किंतु ज्ञातम ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का ज्ञेय रूप से विषय रूप से ब्रह्म को नहीं देखते हैं तत्व ज्ञानी लोग तत्व ज्ञानी तो को ब्रह्म को अविषयत्व नहीं जानते अहम अस्मि ज्ञातम ब्रह्म न पश्यन्ति इसलिए हेतु अभिज्ञातम विजानताम विजानताम ब्रह्म अभिज्ञातम विज्ञात नहीं होता है विजानताम जिनको तत्व ज्ञान हो गया उनके लिए ब्रह्म अभिज्ञात विज्ञात नहीं ज्ञातम ब्रह्म न पश्यन्ति हां विज्ञातम अभिजानतम जब तक अज्ञान है तब तक देहादि में अहम बुद्धि होती है उसको मानते हैं ब्रह्म तो ब्रह्म ज्ञात होता है विज्ञात होता है अभिजानता विज्ञातम अभिजानता <clears throat> तृतीय मंत्र का पदभाष्य हुआ वाक्य भाष्य चलेगा यस्यामत्तम इति वाक्यार्थम संगृहीतम व्याख्याति यस्यामतम तस्य मतम मतम नहीं यही न तृतीय मंत्र ये वाक्यार्थम संगृहीतम संग्रह रूप से कहा गया पहले भाष्य में यस्यामत्तमिति श्रौतम आख्यायिकार्थ उपसंहारार्थम ये संगृहीतम संग्रह से कहा गया यस्यामतमिति श्रौतम श्रुतेर इदम सौतम वचनम यस्या मतम तस्य मतम ये श्रुति का वचन है आख्याय का अर्थ उपसंहारार्थम आख्यायिका से निष्पन्न जो अर्थ हुआ उसका उपसंहार करने के लिए श्रुति स्वयं कहती है संग्रह वाक्य होगा इसका व्याख्यान करते शिष्याचार्येति इत्यादि ना उक्ति प्रत्युक्ति लक्षण या अनुभव युक्ति प्रधान या या यो अर्थ सिद्ध स श्रौतेन वचनेन आगम प्रदानेन निगमन स्थानेन संकेपत उच्यते शिष्याचार्य उक्ति प्रत्युक्ति लक्षण या शिष्य और आचार्य की उक्ति और प्रत्युक्ति शिष्य की उक्ति आचार्य की प्रत्युक्ति और आचार्य भी कहते शिष्य भी उत्तर देता है ना हम मन से भी देती प्रश्न उत्तर शिष्य ने पहले प्रश्न किया था क्या निश्चितम तो आचार्य ने उत्तर दिया तो प्रश्नोत्तर रूप जो आख्यायिका है शिष्य आचार्य के बीच में प्रश्नोत्तर रूप आख्यायिका है और केवल आख्यायिका कथा नहीं अनुभव युक्ति प्रधान या जिससे आख्यायिका में अनुभव और युक्ति प्रधान है अनुभव से युक्ति से अनुभव युक्ति प्रधान है यस्याम आख्यायिकाम आख्यायिकायाम साख्यायिका अनुभव युक्ति प्रधाना इसे अनुभव और युक्ति युक्ति है विदित अविदित से अन्य ब्रह्म से भिन्न अपने से भिन्न ही विदित होता है अथवा अविदित होता है उससे भिन्न सस्वरूप ब्रह्म ऐसा और अनुभव बीच में विचार करके अनुभव होने पर आगे कहता है ना मन्य देती तो अनुभव युक्ति प्रधान है आचार्य भी उपदेश करते हैं अनुभव मूलक और शिष्य को अनुभव होता है तो इसी आख्यायिका में अनुभव युक्ति प्रधान है स्वरूप तो प्रश्नोत्तर रूप तो है प्रश्नोत्तर रूप आख्यायिका में प्रधान रूप से अनुभव युक्ति है इससे अनुभव युक्ति प्रधान आख्यायिका से जो अर्थ सिद्ध हुआ निश्चित हुआ अर्थ जिस अर्थ का निर्णय हो गया स अर्थ स अर्थ सौतन सौतेन वचन न संक्षेप दुष्यते सौत वचन से संक्षेप से कहा जाता है उच्यते क हम्म? हाँ अर्थ सिद्ध अर्थ आख्याय का अर्थ सिद्ध अर्थ उच्यते केन उच्यते श्रौतेन वचनेन श्रुते रिदमिति श्रौतम श्रुति के वचन से और श्रुति वचन कैसा है आगम प्रधान न तो अनुभव प्रधान है आख्यायिका में था और श्रुति वचन है आगम प्रधान वेद वाक्य आगम ही प्रधान है आगम इसमें प्रधान है श्रुति वाक्य है ऐसे प्रश्न उत्तर नहीं है युक्ति प्रधान नहीं अनुभव नहीं आगम प्रधान है वो जो वाक्य अंत में कहते किस लिए निगमन स्थानीय है ना जैसे अनुमान करते समय प्रतिज्ञा है तो उदाहरण उपनय निगमन अंत तस्मात् पर्वत बनिमान प्रतिज्ञा पहले की पर्वत बनिमान धूमवत्वात् उदाहरण देते यो यो धूमान स बनिमान यथा महानसम तथा चयम ये पर्वत भी वन्य व्याप्त होमान तस्माद वन्यमान निगमन स्थानीय हुआ वो निगमन स्थानीय श्रुति वचन आगे उपसंहार रूप से श्रुति उपसंहार करते उपसंहार कर निगमन स्थानीय यह श्रुति वचन उसे संक्षेप तो उच्यते संक्षेप से कहा जाता है क्या कहा जाता है श्रुति वचन न क्या कहा जाता है आख्याय का अर्थ आख्याय का ये अर्थ सिद्ध आख्यायिका से जो अर्थ सिद्ध हुआ जिस अर्थ का निर्णय हुआ जो अर्थ निश्चित हुआ उससे अर्थ संक्षेप से श्रुति वचन के द्वारा कहा जाता है श्रौतमिति शिष्यस्य आचार्यस्य च उक्ति न भवति इति ख्यापनार्थम श्रौत यद श्रौतम यस्यामतमिति श्रौतम श्रुति में श्रौतमिति पद किस लिए ये शिष्य का वचन नहीं आचार्य का वचन नहीं शिष्यस्य च शिष्यस्य आचार्य सच उक्ति न भवती थी ख्यापनार्थम ख्यापनाय इदम इति ख्यापनार्थम ख्यापनार्थम किम सौतम वचन सौतम वचनम सौतम वचनम ख्यापनार्थम ये वाक्य शिष्य का नहीं आचार्य का नहीं ये ख्यापन करने के लिए सौतम इति वचनम तेन श्रौतेन वचनेन कथमुच्यते इति आकांक्षायाम आह तो सौत वचन के द्वारा कैसे कहा जाता है क्या क्या कहा जाता है कहते यदुक्तम विदिताद अन्यद वागादीनाम अगोचरत्वात् मीमांसितम च अनुभव उपपत्तिभ्याम ब्रह्म तथैव ज्ञातव्यम यदुक्तम विदिताद अन्यत विदित से अन्यत है ब्रह्म ज्ञात ज्ञेय पदार्थ से भिन्न बाघादि नाम अगोचरत्वात् क्योंकि बागादि इंद्रियों का विषय नहीं है इंद्र का विषय हो तो विदित होगा सब इंद्र का ज्ञान इंद्र कर्म इंद्र मन का विषय नहीं होने से विदित नहीं ब्रह्म विदित से अन्य है ये जो पहले कहा गया था और मीमांसितम च विचार भी किया गया उसको शिष्य ने विचार किया अंत में अनुभव उपपत्ति भ्याम अनुभव उपपत्ति से निश्चित हुआ ब्रह्म तत्व तथैव ज्ञातव्यम अनुभव उपपत्ति से ब्रह्म मीमांसितम विचार किया गया त तथैव ज्ञातव्यम ऐसे ही निश्चय जानना चाहिए ब्रह्म विदित से अन्य है कस्माद यस्यामतम तस्य मतम मंत्रय टीका में यस्य विविधसा प्रयुक्त प्रयुक्त प्रवृत्तस्य साधकस्य मतम अभिज्ञातम अभिदितम ब्रह्म इति आत्मत्व निश्चय निश्चय फलावसान अवबोधतया विविदिसा निवृत्ता इति अभिप्राय तस्य मतम यदुक्तम जो भाष्य में है यदुक्तम विदिता अन्यद इसका अर्थ क्या टीका में यद ब्रह्म विदिता अन्यद उक्तम इति संबंध यदुक्तम विदिता विदिताद यद विदिता अन्यद ब्रह्म उक्तम यद ब्रह्म विदिता धन्य दुक्तम इति यद ब्रह्म विदिता दन्यत जो ब्रह्म विदित ज्ञात पदार्थ से अन्य कहा गया वो तथैव वो ब्रह्म ज्ञेय नहीं होता है ज्ञात से भिन्न है अमतम तस्य मतम अमतम तस्य मत कहा जिसको अज्ञात है वो ठीक जानता है इसलिए टीका में कहते नहीं जो नहीं जानता है बिल्कुल वो ठीक जानता है ऐसे मतम मतम जो नहीं जानता है वो ठीक जानता है ये कैसे होगा गोपाल आदि वह आत्म तत्व न विवक्षितम जो गोपाल आदि बिल्कुल आत्म तत्व तो कुछ नहीं जानते वही ब्रह्म ज्ञानी है ये अर्थ नहीं गोपाल आदि वह आत्म तत्व जैसे बिल्कुल आत्म तत्व के विषय में कुछ नहीं जानते ऐसे यहाँ नहीं मतम अज्ञात ब्रह्म ऐसे विवक्षित नहीं किंतु ब्राह्मण आत्मत्व निश्चय फलावसानो अवबोधो यस्य स तथोक्त ब्रह्मण आत्मत्व निश्चय फलावसान ब्रह्म आत्मा है ब्रह्म में आत्मत्व है निश्चय ये फल है अवसान यस्य ऐसा अवबोध ज्ञान वृत्ति ज्ञान होकर अंत में अहम अस्मि ब्रह्म निश्चय होता है यस्य स तथो तस्य भाव भाष्य में आया यस्य विविधिसा प्रयुक्त प्रवृतस्य साधकस्य साधक विचार करने के लिए प्रभुत्व होता है उसका प्रयोजक होता है विविदिशा वेदितुम इच्छा जिज्ञासा जानने की इच्छा विविदिशा प्रयोजक हो तो अवश्य ही प्रयुक्त होगा प्रयोजक कारण है विविदिशा जानने की इच्छा है तो जानने के लिए प्रयत्न करेगा विचार करेगा तो साधक विविदिशा से प्रयुक्त हुआ प्रयुक्त हुआ विविदिशा प्रयुक्त प्रभुतस्य विविदिशा प्रयुक्त जो प्रभुत्व हुआ साधक विविध दिशा के कारण साधक विचार में प्रभुत्व हुआ ऐसे साधक से अमतम अभिज्ञातम अविदित ब्रह्म इति ऐसे साधक को यदि ब्रह्म अविदित माने तो वो ठीक जानता है ये बिल्कुल जो कुछ नहीं जानता वो ठीक जानता है ये अर्थ नहीं जिज्ञासा से प्रवृत्त हुआ श्रवण मनन किया साधक विचार करते करते ये निश्चय हुआ ब्रह्म ज्ञात नहीं होता है अमतम ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं होता ऐसा निश्चय है जिसके दृष्टि से वही ठीक जानता है क्योंकि ब्रह्म ज्ञात नहीं होता है ब्रह्म तो दृग रूप है वो दृग चिद भाष्य नहीं है चिद रूप ब्रह्म से भिन्न सब दृग चिद भाष्य चित के द्वारा प्रकाशित ब्रह्म दृग रूप है विदित नहीं होता है ऐसा जिसको निश्चय साधक से अमतम का तो अभिज्ञातम अविदितम इति अविदितम ब्रह्म ब्रह्म विदित नहीं होता है ऐसा निश्चय विदित नहीं होता है मतलब जैसे श्रृंगार अंगूर खाने के लिए छलांग लगाया पेड़ के ऊपर अंगूर है नहीं पहुंचा फिर बाद में क्या कहा अंगूर काटे नहीं खाया पाया तो क्या अंगूर काटे के भाग गया कोई गया साधन करने के लिए एकदम बैठ गया दो दिन तीन दिन खाना छोड़कर बैठ गया साक्षात्कार हो जाएगा ना तो उस नहीं हुआ तो फिर आकर के कोई तो कहते नहीं कुछ ब्रह्म का गया कुछ होता नहीं नहीं तो और लोगों क्या कहेंगे दो तीन दिन बैठ गया भूखा तो ज्ञान हो गया साक्षात्कार हो गया हमको इसी प्रकार नहीं अविदितम अज्ञात क्या है साधक प्रयत्न क्या और ज्ञान नहीं हुआ तो ब्रह्म की विदित नहीं होता ज्ञात नहीं होता है विविध साहब श्रवण मनन किया थोड़े दिन श्रवण किया बाद में देखा कहाँ कहीं ब्रह्म तो दिखता नहीं <laughs> क्या श्रवण करके क्या होगा इतने दिन श्रवण किया कहीं तो ब्रह्म कुछ ज्ञात हुआ नहीं अभी आप लोगों ने श्रवण किया देख लिया ब्रह्म को कभी रास्ता में या यहाँ तो जो अविदित हो गया ये नहीं अविदित ऐसा निश्चय का अर्थ क्या है विविधता से प्रवृत्त हो करके ऐसा निश्चय हुआ कि ब्रह्म ज्ञात तो होता नहीं मतलब क्या है अब ब्रह्म इति आत्मत्व निश्चय फलावसान अवबोधतया विविधता निवृत्ता इति अभिप्राय जिज्ञासा की निवृत्ति हुई क्षुधा भोजन करने की इच्छा थी बुभुक्षा प्रयत्न किया आकर के कहीं क्षुधा निवृत्ति के लिए कहीं गया भोजन नहीं मिला तो क्षुधा निवृत्ति हो जाएगी ना जिज्ञासा से श्रवण करने प्रवृत्त हुआ ज्ञान नहीं हुआ तो जिज्ञासा निवृत्ति हो जाएगी जिज्ञासा निवृत्ति नहीं होती किंतु यहाँ अविदित ब्रह्म कह करके उसको निश्चय हो गया आत्म तो निश्चय फल अवसान आत्मा तो निश्चय हो गया अहम अस्मि ब्रह्मण आत्मा तो निश्चय ब्रह्म मैं ही हूँ ऐसा निश्चय हुआ आत्मा तो निश्चय अहम अस्मि ब्रह्म निश्चय है फलम ज्ञान का ये अवसान यस्य जिससे अवबोध ज्ञान के अंत में आत्मा तो निश्चय फल है ब्रह्माकार वृत्ति है ज्ञान वृत्ति ऐसे ब्रह्माकार होने पर जब संशय विपर नष्ट हो जाता है अज्ञान निवृत्त हो जाता है तो फिर आत्मा तो निश्चय स्वयं आत्म स्वरूप स्वयं प्रकाश ब्रह्म अवसान अंत में ऐसा अवबोधतया ऐसे ज्ञान होने से ज्ञान से विविधिशा निवृत्ता जो साधक विविधिशा से प्रवृत्त हुआ विचार करने में श्रवण करने में फिर विचार करते श्रवण मनन निधिध्यासन से ब्रह्माकार वृत्ति हुई अंत में ब्रह्म में आत्मत्व निश्चय फल हो गया अहम अस्मि ब्रह्म अवसान में ज्ञान समाप्त हो गया तृप्त हो गया ऐसे ज्ञान होने पर जिसकी विविधता निवृत्ति हो गई तस्य मतम आमतम तस्य मतम यानी नहीं कि थोड़े दिन श्रवण किया कुछ नहीं जान पाया वही वो ठीक जानता है जो पुस्तक लेकर बैठे तीन चार दस साल तक वो नहीं जानते दो महीना एक महीना पढ़ा छोड़कर भाग गया वही ठीक जानता है क्योंकि थोड़े दिन देखा वाला कुछ ज्ञान नहीं होता है श्रवण करने से कुछ नहीं होगा छोड़कर चला गया आमतम तस्य मतम जो ब्रह्म जो जिसको ब्रह्म ज्ञात नहीं वही ठीक जानता है एक दो महीना छोड़कर चला गया ब्रह्म का ज्ञान होता ही नहीं छोड़ो ये अर्थ नहीं है यह श्यामतम का अर्थ क्या ऐसे सब प्रवृत्त होकर के श्रवण मनन निध्यासन करते करते ब्रह्माकार बुद्धि होकर के जब संशय विपर नष्ट होने पर साक्षात्कार होता है साक्षात्कार फल अंत में होने पर तभी विविधिशा निवृत्ता प्रयत्न किया भोजन करने गया नहीं मिला भोजन नहीं मिला तो हम बैठा बाद में कभी मिलेगा बहुत देर बैठने का तो भोजन मिल गया भोजन करेगा तो क्षुधा निवृत्ति होगी तो भोजन के बिना निवृत्ति नहीं होती इसी प्रकार विचार करते करते जब साक्षात्कार हो जाता है तब विविधिशा निवृत्ति होती और साक्षात्कार कैसे होता है अहम आत्मत्व निश्चय ब्रह्म में आत्मत्व निश्चय मैं ही हूं देखने के लिए सोचा था कहीं बाहर कुछ मिलेगा बस समझ लिया आगे क्यों इंद्र का विषय नहीं श्रुति आदि आचार्य उपदेश है अहम अस्मि ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति करके अंत में साक्षात्कार हो गया तब ये विविधिशा निवृत्ता यस्य मतम ब्रह्म ज्ञात नहीं होता है ब्रह्म मैं हूँ मेरे से भिन्न नहीं है चिद भाष्य नहीं दृश्य तो सब जड़ है परिचिन है मेरे से भिन्न नहीं है पहले तो मेरे से भिन्न है ईश्वर तो भिन्न है व्यावहारिक भेद है व्यवहार में सब भेद होता है जैसे गुरु शिष्य पिता पुत्र माता भेद भिन्न है ईश्वरी भिन्न है व्यावहारिक भेद है उसी से पहले भक्ति आदि करता है अंत में मैं ब्रह्म ऐसा नहीं ब्रह्म को साक्षात्कार करना चाहता है तो कहीं ब्रह्म कहीं होगा अलग-अलग रूप है देवताओं के तो ब्रह्म का विषय कोई रूप का बड़ा रूप उनको देखेंगे ये मन में रहता है फिर बाद में श्रवण करने पर निश्चय होता है ब्रह्म तो अपना स्वरूप ही है ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं तब अहम अस्मि ब्रह्म ब्रह्म में आत्म तो निश्चय अहम एव ब्रह्म इदम असौ ऐसा नहीं अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मीति यो वेद न स वेद का जो उपासक मानता अन्यो असौ मेरे उपास्य मेरे से भिन्न है अन्य अहम वो परमात्मा मेरे से भिन्न है मैं ही परमात्मा से भिन्न हूँ ऐसा जो जानता है न स वेद वो ठीक नहीं जानता है यथा पशु एवं सदेवानाम मनुष्यों के जैसे पशु होता है इसे देवताओं का पशु के समान है भेद दृष्टि करने वाले तो ब्रह्म का ज्ञान असो तद ऐसा नहीं अहम अस्मि अहम एक करके जब ज्ञान हो जाता है तो बाहर जानने की इच्छा समाप्त जिज्ञासा निवृत्ति और किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं क्योंकि ब्रह्म से भिन्न सब मिथ्या और कुछ है ही नहीं सर्वमिदम अहम च ब्रह्मे वैसा ज्ञान हो गया तो विविधिसा निवृत्ति होगी ब्रह्म विदित नहीं होता है ब्रह्म तो अपना स्वरूप है विदित तो अपन से भिन्न होता है अपन से भिन्न विदित होता है अथवा विदित होता है ब्रह्म विदित से अन्य तो ब्रह्म विदित नहीं होता है ऐसा जिसको निश्चय हुआ साधक है साधना से विविधता से प्रभुत्व हुआ श्रवणादि करता है करते करते ब्रह्माकार वृत्ति होकर के साक्षात्कार हुआ तो समझ लिया ब्रह्म अहम अस्मि न तो इदं तेन ब्रह्म मेरा ज्ञेय होगा मेरे से भिन्न ऐसा नहीं मैं ही ब्रह्म ऐसा निश्चय हो गया तो ब्रह्म यस्य अमतम अमत कहता अविदितम जिसके दृष्टि से ब्रह्म अविदित अविदित नहीं है विदित से भिन्न जिसके दृष्टि से ब्रह्म विदित से भिन्न क्योंकि उसको साक्षात्कार हो गया विविधता निवृत्त हो गई जिज्ञासा समाप्त हो गई ऐसा ज्ञान हो गया तो उसके दृष्टि से ब्रह्म विदित है या नहीं विदित है या नहीं विदित बोलो सब ज्ञानी के दृष्टि ब्रह्म विदित अविदित है अविदित विदित भी नहीं अविदित भी नहीं उसके लिए विदित नहीं तो यस्य अमतम अमितम तो अविदितम कहा अविदित का तो विदित नहीं विदित भिन्न अविदित होता विदित नहीं ज्ञेय नहीं ज्ञात नहीं होता है तो विविदिशा निवृत्त हो गया तस्य मतम वो ठीक जानता है टीका में दिया ब्राह्मण आत्मतो निश्चय फलावसान अवबोधयस्य जिसको आत्मत्व निश्चय फल अंत में हो ऐसे अवबोध हुआ स फलावसान अवबोध तस्य भाव तत्ता फलावसान अवबोधता तया फलावसान अवबोधतया विविधिसा निवृत्ता विविधिसा को टीका में क्या कहा गया बुभुसा वेदितुमिषा विविदिशा और बुभुसा बोद्धुमिषा बुभुसा बुद्ध धातु से बनता है बुद्धुमिषा निवृत्त हो गई विचार्य माने ब्रह्मण आत्मत्वेन परिवसनाद अतिरिक्त मंतव्य भावाद अमतम यस्य अमतम फिर अमत कैसे हुआ यदि विभूषा निवृत्त जिज्ञासा निवृत्त हुई तो ब्रह्म तत्व तो को जान लिया साक्षात्कार कर लिया फिर अभिदित कैसे विचार्य माने जो विचार किया श्रवण मन निध्यासन ब्रह्मण आत्मत्वेन परिवसनाद ब्रह्म आत्मा ही आत्मा से भिन्न नहीं सर्वम खलुदम ब्रह्म सर्वम ब्रह्म होने से ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं आत्मा भी ब्रह्म तत्वमसि आदि श्रुति वाक्य तो आत्मत्वेन परिवेशन आत्मा हुई ब्रह्म वा ब्रह्म भिन्न नहीं है अतिरिक्त मंतव्य भावात सर्वम ब्रह्म और ब्रह्म अहम अस्मि ज्ञान हो गया उस अतिरिक्त क्या रहा जानने के लिए अतिरिक्त से मंतव्य से भावात ब्रह्म से भिन्न कुछ अतिरिक्त ज्ञ नहीं आत्मा अतिरिक्त ब्रह्म भिन्न है ना आत्मा से ब्रह्म भिन्न नहीं आत्मा अतिरिक्त ब्रह्म नहीं कुछ भी नहीं अतिरिक्त से मंतव्य अभावाद ब्रह्म फिर ज्ञात हो गया नहीं हुआ अमतम अतिरिक्त तो ज्ञात है कोई यही नहीं स्वयं ब्रह्म निश्चय हो गया अहम अस्मि तो अमतम अमतम तो विषयत्व न ब्रह्म ज्ञात नहीं होता है अहम अस्मि करके तो वो तस्य मतम तसमत्यम भाष्य में तस्य ज्ञातम तेन विदितम ब्रह्म उसको ठीक ज्ञान हुआ किसको येन अविषयत्वेन आत्मत्वेन प्रतिबुद्धम इत्यर्थ येन ब्रह्म प्रतिबुद्धम ब्रह्म जिसको ज्ञात हो गया किस रूप से अविषयत्वेन विषयत्वेन नहीं जैसे घटपट रूप आदि का ज्ञान विषयत्वेन होता है रूप रस आदि का विषयत्वेन होता है ब्रह्म का इस प्रकार नहीं अविषयत्वेन मेरे से भिन्न विषय होगा अहम अस्मि से ज्ञान होता आत्मत्वेन अहम अस्मि ब्रह्मण आत्मत्वेन प्रतिबुद्धम आत्मत्व जान लिया अहम अस्मि ऐसे जान लिया ऐसे जिसको ज्ञान हो गया तस्य मतम स सम्यक दर्शी वो सम्यक दर्शी है सम्यक पश्यति में से सम्यक ज्ञानी यस्य विज्ञान अनंतरमेव ब्रह्मात्म भावस्य अवसितत्वाद सर्वत भाव विपरीण मिथ्या ज्ञान होती वो दर्शी यस्य विज्ञान अनंतरमेव ज्ञान होते ही ब्रह्मात्म भाव से अवसितत्वाद ब्रह्मण आत्मभाव आत्मत्व तो अवस्थित निश्चित है निश्चित हो गया पूर्णत्वेन निश्चय साक्षात्कार हो गया अहम अस्मि ब्रह्म उनसे सर्वतः कार्याभाव और कुछ कार्य नहीं रहा कर्तव्य कुछ नहीं रहा यहाँ कुछ प्राप्त करने के लिए परलोक में प्राप्त करने के लिए कुछ कर्तव्य नहीं रहा सर्वतः कार्याभाव सर्व कार्याभाव यही ज्ञानी है विपरेण यदि कुछ कर्तव्य बुद्धि है कुछ करने का बाकी रह गया तो मिथ्या ज्ञान होती मिथ्या ज्ञानम यस्य समिथ्या ज्ञानो भवति ब्रह्मामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः नैवास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चे न स सतत्ववित ब्रह्मामृत से जो तृप्त हो गया ब्रह्म रूप अमृत है उसका ज्ञान प्राण करके तृप्त हो गया कृतकृत्य हो जाता है कृतम कृतम ये न जो करना था सो कर लिया और कुछ करते हुए बाकी नहीं कृतकृत्य से योगी हाँ, क्या कर्तव्य इसका है नैवास्ति किंचित कर्तव्य हम कुछ भी कर्तव्य नहीं कुछ भी कर्तव्य नहीं कुछ कर्तव्य नहीं तो कुछ नहीं करेगा शरीर या नहीं कर्तव्य बुद्धि मान करके नहीं शरीर से प्रारब्ध से जो चले ये मेरा कर्तव्य है मुझे करना है ऐसा नहीं यदि थोड़ा कुछ मन में है कि ये करना चाहिए कर्तव्य बुद्धि अस्ति चेत न सतत्वविति जिसको कुछ करने का बाकी है वो तत्व ज्ञान नहीं है पूरा कर लिया और कुछ करने का है ही नहीं शरीर प्रारब्ध के अधीन रहेगा वो प्रारब्ध के अधीन नचित तो समय भी ज्ञानी समझता मेरा कुछ कर्तव्य है नहीं तो निष्क्रिय ब्रह्मात्मदर्शी अब निष्क्रिय ब्रह्म व्यापक में हूँ उसमें कोई कर्तव्य नहीं कुछ प्राप्तव्य नहीं कुछ अलग है ही नहीं ऐसे जब ज्ञान होता है तो कार्याभाव विपरण मिथ्या ज्ञान होती थोड़ा कर्तव्य बुद्धि हो तो उसका ज्ञान भ्रम ज्ञान है अभी ज्ञान नहीं हुआ मिथ्या ज्ञान होती कथम मतम विदितम ज्ञातमया ब्रह्म इति यस्य विज्ञानम समिथ्यादर्शी विपरीत विज्ञानो विदिताद अन्यत्वाद ब्रह्मणो न वेद न सस्ता न विजानाति यस्य न वेदस मतम का अर्थ विदितम ज्ञातमया ब्रह्म इत्यस्य विज्ञान जिसका ज्ञान होता है ब्रह्म विदितमया ज्ञातमया जान लिया मैं ब्रह्म विदितमया अथवा ज्ञातमया मतम ऐसा जिसका विज्ञान जिसका निश्चय है जिसका निश्चय ब्रह्म को मैं जान लिया ब्रह्म मेरा द्वारा ज्ञात हो गया ऐसा जिसको निश्चय है स मिथ्यादर्शी मिथ्यादर्शी मिथ्याम पश्यत मिथ्या पश्यति मिथ्या को देखता है भ्रांत है मिथ्यादर्शी मिथ्यादर्शन वाला भ्रांत है क्योंकि विपरीत विज्ञान विपरीतम विज्ञानम यस्य उसका विज्ञान विपरीत है ब्रह्म विदित होता नहीं विदित मतलब प्रकाशित चित होता है प्रकाशक उसे भिन्न हो चित व्याप्त चित प्रकाशित चित भाषित चैतन्य के द्वारा प्रकाशित चैतन्य के द्वारा प्रकाशित चैतन्य से भिन्न होगा स्वयं चैतन्य नहीं चैतन्य का प्रकाश का जड़ करेगा चैतन्य का चेतन करेगा चेतन से भिन्न कोई नहीं एक ही चेतन है अन्य प्रकाश चेतन से प्रकाशित होगा तो स्वयं जड़ हो जाएगा एक दीप को देखने के लिए दूसरा दीप को चाहिए चाहिए अधिक प्रकाश वाला दीप चाहिए कम प्रकाश वाला एक दीप छोटे कम प्रकाश वाला है तो उसको देखने के लिए बड़ा प्रकाश वाला अधिक प्रकाश वाला दीप चाहिए चाहिए इसी प्रकार दीर्घ रूप चेतन को प्रकाश करने के लिए कोई नहीं चेतन के द्वारा सब प्रकाशित होगी जड़ जितने प्रकाशित है सब चित चेतन से प्रकाशित है अब ब्रह्म प्रकाशित ज्ञात नहीं होता है ब्रह्म विदितम ज्ञातम ऐसा जिसका विज्ञान भ्रांत है विपरीत विज्ञान विदिता अन्यताद ब्रह्म क्योंकि ब्रह्म विदित से भिन्न जितने विदित ज्ञात होते हैं सब जड़ है जितने आपके द्वारा ज्ञात होते हैं जितने पदार्थ उनमें से आप कौन है आपका देह ज्ञात है या नहीं जितने पदार्थ ज्ञात है उनमें सब में आपका देह है या नहीं देह भी ज्ञात हो गया वही तो आप है वही नहीं है देह ज्ञात है इसलिए हम नहीं है जितने विदित है वो ब्रह्म नहीं है विदित से अन्य ब्रह्म तो सब आपसे भिन्न सब विदित है अथवा अविदित है कुछ आप जानते कुछ नहीं जानते आपसे भिन्न कुछ विदित कुछ अविदित तो ब्रह्म आप क्या है विदित और अविदित दोनों से भिन्न विदित अविदित दोनों से भिन्न कोई बचेगा कौन विदित अविदित अपन से भिन्न सारे पदार्थ कुछ विदित और कुछ अविदित सारे विदित अविदित को हटा देंगे तो क्या रहेगा स्वयं स्वरूप है यही विदित से अन्य है अरे ब्रह्म विदित हमेशा जिसके नीचे हो गया और भ्रांत है क्योंकि विदिता विदिता अन्यता ब्रह्मण ऐसे जिसको मान जिसका निश्चय हो गया ब्रह्म ज्ञातमया विदितमया मैं जान लिया वो न वेदस स न भी जानते वो नहीं जानता है ततश्च सिद्धम अवैदिकस्य विज्ञानस्य मिथ्यात्वम अब्रह्म विषयतया निंदितत्वात् ततच सिद्धम अवैदिक विज्ञान से वेद प्रमाणिक बिना ऐसा जो ज्ञान होता है तार्किक लोग तो कहते आत्मा का प्रत्यक्ष होता है मन से प्रत्यक्ष होता है आत्मा मन मन से आत्मा का प्रत्यक्ष मानते हैं ब्रह्म हुई तो ब्रह्म विधि तो ज्ञान हो गया अहम अस्मि ब्रह्म तो ब्रह्म का तो प्रत्यक्ष होता है वैदिक दर्शन अवैदिकस्य अवैदिकस्य विज्ञानस्य वेद प्रमाण के बिना जो ज्ञान होता है वो ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्म तो अविदित है विदित से भिन्न है विदित से अन्य विदित से अन्य विदित से अन्य और ब्रह्म विदितमय ऐसा जो विज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान है अब्रह्म विषयतया वो तो ब्रह्म विषय का नहीं हुआ विदित तो ब्रह्म से भिन्न होता है जड़ जितने ब्रह्म से भिन्न सब विदित अविदित है अब्रह्म विषयक विषय होने से जो ब्रह्म विषय के वो समय ज्ञान नहीं है निंदित तो उसकी निंदा की गई ये निंदा की गई आगे श्लोक है मूल में या वेद बाह्य स्मृत अभी आएगा मनुष्य निंदा की गई तस्य निंदित कह निंदित हाँ, अनिंदितत्वा तथा कपिल कणभुगादि समय से विदित ब्रह्म विषयत्वाद अनवस्थित तर्कजन्यवाद विविधता निवृत्तेश्च मिथ्यात्वमिति कपिल सांख्य कणभुक है कणाद कौन सा वैशेषिक दर्शन आदि से गौतम न्याय सांख्य वैशेषिक न्याय दर्शन जितने समय सिद्धांत उनके दर्शन उनके दर्शन से अभी विदित ब्रह्म विषयत्वाद विदित ब्रह्म को विषय करते ज्ञात ब्रह्म विदित जो होगा वो ब्रह्म नहीं है विदित ज्ञात तो ब्रह्म से भिन्न है उसको ब्रह्म मानेंगे तो भ्रांति है विदित जो होता है ब्रह्म से भिन्न ज्ञात जड़ है उसको ब्रह्म मानेंगे तो भ्रांति है यथार्थ है जड़ को ब्रह्म मानेंगे तो यथार्थ है नहीं अविदित ब्रह्म विषयत्वा विदित ब्रह्म विषयत्वा एक है विदित ब्रह्म विषय को उनका दर्शन सांख्य कणाद वैशेषिक और न्याय विदित ब्रह्म विषयक और अनवस्थित तर्कजन्य तो आदम तर्कजन्य आगम को प्रधान नहीं करके तर्क को प्रधान करते तर्कजन्य होने से अतर्क कैसा है अनवस्थित तर्क स्वयं प्रतिष्ठित नहीं तर्क प्रतिष्ठानात तर्क करके कोई बड़े तार्किक को कोई अर्थ सिद्ध कर दिया और एक तार्किक आ गया उसको उल्टा कर दिया अनवस्थित जो तर्क स्वयं अवस्थित नहीं है ऐसे अस्थिर अनस्थित तर्कजन्य होने से यथार्थ नहीं है ब्रह्म है तर्क को कुछ सिद्ध कर दिया दूसरे आग्रह के क्या ये ठीक नहीं और ऐसे ज्ञान होने पर विविध सानिवृतश्च न्याय के लोग आत्मा का प्रत्यक्ष तो होता है प्रत्यक्ष होता ना नहीं हम सुखी अहम दुखी ज्ञान होते सुख का आत्मा का प्रत्यक्ष होता है और जिज्ञासा समाप्त हो जाती है फिर आत्मा का प्रत्यक्ष होगा आत्मा कितने बड़ा है आत्मा का प्रत्यक्ष तो होता है किंतु आत्मा कितने बड़ा उसमें संशय विवाद है जैसे घट प्रत्यक्ष दिखता है उसका परिमाण कितने बड़ा है छोटा है झगड़ा होता है विवाद सब लोग प्रत्यक्ष देखते हैं आत्मा का यदि प्रत्यक्ष होता है कोई कहता है आत्मा अणु है कोई कहते देह के जैसे बड़ा है देह जितने बड़ा आत्मा है इतने देह बड़ा मोटा हो गया तो आत्मा को भी बढ़ना पड़ेगा अब पतला हो गया तो पतला हो गया तो जैसे शरीर का भी दुर्बल हो जाता है रोग या कुछ दुर्बल हो गया तो आत्मा में भी कुछ अंश हटेंगे निकल कर गिर पड़ जाएगा गिर जाएगा इधर उधर गिर गिर जाएगा वृद्धि हा समाल मानते आत्मा को मानेंगे तो क्या होगा अनित्य हो जाएगा ये मानते जैन लोग देह के जितने बड़ा देह इतने बड़ा आत्मा है अभी मनुष्य है आगे हाथी बन जाएगा तो पूरा शरीर में हाथी के शरीर में आत्मा नहीं एक टांग में रह जाएगा बाकी अनात्मा और चिंटी बन जाएगा तो कुछ तो अंदर है और बाहर कुछ रहेगा उसके ऊपर बाहर ये सब संकोच विकास मानेंगे छोटे में रहेगा तो संकोच हो जाएगा बड़े में जाएगा तो फल जाएगा तो सावय हो जाए अनित्य हो जाएगा और कोई कहते महान विभुए है तार्किक लोग के लोग विभु तो मानते हैं किंतु वस्तु परिचय न मानते हैं वस्तु परिचय का अर्थ एक आत्मा से दूसरा आत्मा भिन्न है जीवात्मा सब भिन्न मानते सब व्यापक है विभु मानते हैं जीवात्मा विभु है अणु नहीं मध्यम परिमाण नहीं तार्किक लोग तो इतने बड़ा करते हैं जो अनुवादी को निराकरण कर देते हैं अभी भी अनुवादी मत है आत्मा को अनुमानते मानते हैं अनुमानेंगे मानेंगे तो क्या होगा अभी जाकर गंगा जी में स्नान करो ठंडा कहाँ लगता है पूरा शरीर में लगता है क्या या सुई जैसे ये किसके सर में सुई इधर उधर लगाओ सुई लगाओ इतने सर में पीठ में जाकर सुई से लगाओ कितने एक साथ सब शरीर में पूरा लगता है बिंदु बिंदु इसी प्रकार आत्मा छोटा होने से अणु होने से जब गंगा जी में डूब जाओगे जहाँ अणु है वहीं सुख दुख होगा वहीं ठंडा फिर आत्मा इधर चल जाएगा वहीं ठंडा लगेगा फिर आत्मा उधर चलेगा वहीं ठंडा लगेगा एक एक बिंदु जैसे सुई भेदन करते हैं इसी प्रकार ठंडी से बिंदु बिंदु तो लगना चाहिए पूरा शरीर में ठंडी नहीं होनी चाहिए अणु हो तो जहाँ आत्मा है वो लगेगा नक में ठंडी गर्मी नहीं लगता है आत्मा यदि नहीं तो वहाँ ठंडी गर्मी नहीं लगेगी ये आपत्ति है अनुमान ने प्रतार्किक लोग उसका खनन करके विभूत सिद्ध कर देते हैं किंतु प्रति जीवात्मा अलग-अलग मानते हैं अलग-अलग मानते हैं विभू मानते हैं वस्तु परिचय हुआ क्योंकि एक आत्मा से भिन्न है आत्मा से भिन्न आकाश ही मानते हैं आत्मा से भिन्न अलग पदार्थ मानने से वस्तु परिचय हो गया श्रुति कहती वस्तु परिचय नहीं सर्वम ब्रह्म सर्वम ब्रह्म कर से ब्रह्म से भिन्न क्या-क्या रहेगा पदार्थ कुछ रहेगा कुछ रहेगा तो ब्रह्म भी वस्तु परिचन्न हो जाएगा अनंतम ब्रह्म इसलिए उनका जो सिद्धांत है वो विदित ब्रह्म विषय होने से भ्रांति है कपिल कणाभुक आदि हम्म? दर्शमितम विभूतम आपका आत्मा सबके शरीर में है और आपके शरीर सबका आत्मा है आपका जो आत्मा सबके शरीर में कुत्ते में भी है हाथ में भी है में सब है और सबका आत्मा आपके शरीर में है आपके शरीर सबका आत्मा है तो आपके मन का संयोग किस आत्मा के साथ होगा सबके आत्मा के साथ और आपके आत्मा का संयोग किस मन के साथ हो सबके मन के साथ सबके मन में जितने सुख दुख आप में आ जाएगा और आप में जितने सुख दुख सब में चला जाएगा आपने लड्डू खाया आपको मीठा लगा सब लोग खुश हो जाएंगे और मिर्ची खा कर रोने लगा सब लोग रोएंगे सब के आंख से पानी निकलेगा ये आपत्ति है फिर वो कहेंगे नहीं कुछ जिसके शरीर कर्म से बना और आत्मा में यदि मन का स्नेह हो गया उसको सुख दुख होगा अन्य को नहीं होगा ये यदि अनेक आत्मा मानने के बाद भी ये आपत्ति रहती एक को सुख दुख सबको सुख दुख हो जाए उसका समाधान नायक ने कर दिया कि शरीर अवचन आत्मा में मन का संयोग हो गया जिस शरीर अवचन आत्मा में मन का संयोग हो गया उसको सुख दुख होगा और शरीर भी किसका कौन सा शरीर आपका है आपके आत्मा का संयोग सब शरीर के साथ है तो कौन सा शरीर आपका होगा जो आपके कर्म से बना वो शरीर आपका है कैसा निश्चय होगा ये आगे विचार करें तो फिर चुप होना पड़ता है अभी सिर खुजलाते आगे उच्चारण नहीं मिलता है तो कहते जो शरीर आपके कर्म से बना वो शरीर आपका है उस सर्वावचन आत्मा में जिसका संयोग होगा वो सर्वावचन आत्मा कौन है सारे आत्मा वो सर्वावचन है फिर कहेंगे उस सर्वावचन जो उसके स्वामी जिसके अदृश्य से बना वो आत्मा के साथ जिस मन का संयोग होगा उसको सुख दुख होगा बड़े हिसाब करके फिर इसे आपत्ति का वाहन करना प्रयास करते हैं कहते इतने प्रयास करना है तो एक आत्मा मानो अलग अलग माने क्या जरूरत है एक ही आत्मा सबके सारे है और मन भिन्न भिन्न है मन भिन्न भिन्न है तो सब आत्मा में चिदाभास दिखता है सारे घड़े में जल है जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है एक बिंब रूप आकाश चंद्र होने पर भी प्रतिबिंब नाना है घड़े को हिलाएंगे तो ऊपर चंद्र हिलता है या सब घड़ा में चंद्र हिलेंगे घड़े को हिलाएंगे तो ऊपर चंद्र हिलेगा क्या सब घड़ा में चंद्र का प्रतिबिंब हिलेगा जिसको हिलाए वही हिला एक जीव भोजन कर लिया तो सौ का पेट भर जाएगा एक मर गया तो सौ मर जाएंगे क्यों होगा एक घड़ा टूट गया सारे घड़े टूट जाते हैं क्या नहीं होता है प्रतिबिंब नष्ट हो गया दर्पण तो तोड़ देने से तो बिंब नष्ट हो जाता है बिंब तो रहता है प्रतिबिंब अन्यत्र दिखता है ये वेदांत मत है और अन्य जितने हैं कपिल कणाद आदि का समस्या भी विदित ब्रह्म विषय होने से अनवस्थित तर्कजन्य होने से और उसे विविधसा विविध दिशा की निवृत्ति नहीं होती है ऐसे ब्रह्म ज्ञान मानते तो भी विविध दिशा समझ लिया ज्ञानाधिकरण में आत्मा तार्किक लोग लक्षण करते व्यावृत्ति व्यवहार से लक्षण से प्रयोजनम लक्षण कर क्या सिद्ध करेंगे आत्मा इतर भिन्न ज्ञानाधिकरणत्वाद जो इतर भिन्न नहीं हो ज्ञान के अधिकरण नहीं होता जैसे घट आकाश ऐसे आत्मा का निश्चय हो गया प्रत्यक्ष भी हो गया तो भी अहम मनुष्य ज्ञान नष्ट हो जाता है मैं मनुष्य बुद्धि रहती है नहीं रहती बड़े-बड़े तार्किक से पूछो तुमको मैं मनुष्य से बुद्धि है तुमको तो मनुष्य है पशु जो बोलो तुम आदमी हो जानवर हो थापड़ लगाया जानवर में इतने न्याय पढ़ने के बाद तो हमको जानवर कहते हो <laughs> मैं जैसे न्याय पंक्ति जानता हूं तुम बोलते तो सुन के सुना देगा साध्यता अवश्य संबंधा आवश्यक साध्यता अवश्यता अवश्य प्रतियोगिता का प्रतियोगिता अवश्य संबंधा आवश्यक वैदिकण अवश्य हेतुता अवश्य संबंधा अवश्य हेतुता अवश्य अवश्य प्रतियोगिता का क्या वृत्ति तत्व इतर धर्म आवश्यक वृत्ति तत्व आवश्यक प्रतियोगिता का क्या क्या लंबा कहेगा ये तर्क जितने पढ़ने पर भी विविध दिशा निवृत्ति नहीं होती है आत्म साक्षात्कार नहीं होता है इसलिए कपिल कणाद कण जितने दर्शन है उसके द्वारा जिज्ञासा की निवृत्ति नहीं होने से मिथ्यात्व यदि सम्यक दर्शन ज्ञान होगा जिज्ञासा की निवृत्ति हो जाएगी जब तक समय ज्ञान नहीं होता तो जिज्ञासा रहती जब तक भोजन नहीं किया तब तक बुभुक्षा रहती है सम्य ज्ञान होने पर ही विविधिशा की निवृत्ति होती अन्य दर्शन से जितने करने पर ही जिज्ञासा की निवृत्ति नहीं होती बहुत न्याय पढ़ने के बाद जिज्ञासा की निवृत्ति नहीं होती फिर वेदांति के पास जाते पढ़ने के लिए पहले पहले तो बड़े घमंड करेंगे हम इतने पढ़े हमको कौन वेदांत है पढ़ाने वाले इतने न्याय हम कहता है क्या बता सकते हैं किसके पास जाएंगे हमको पढ़ाने वाले कौन मिलेगा ऐसे करके बहुत ऐसे ही घमंड करे तो कुछ सारा जीवन समाप्त हो जाएंगे किंतु उसमें कोई जो साधन करता है थोड़ा सा भी अंतकोण शुद्ध होता है जिज्ञासा होती तो फिर वेदांत श्रवण करते बड़े-बड़े तार्किक लोग वेदांती बन गए जो बड़े-बड़े तार्किक थे वो वेदांत ग्रंथ पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करके वेदांत की व्याख्या उन्होंने लिखी ये रघुनाथ जगत जगदीश आदि सब बड़े-बड़े वेदांति बन गए तो अंत में जीव जिज्ञासा की निवृत्ति होगी वेदांत श्रवण करने पर नहीं तो विविधता की निवृत्ति नहीं होती इसलिए ये सब दर्शन जितने द्वैत दर्शन सब मिथ्या ब्रह्म ज्ञान है यथार्थ नहीं स्मृतेश्च स्मृति मनुस्मृति कहती या वेद बाह्य स्मृतयो याश्च काश्य कुदृष्टय सर्वास्ता निष्फला प्रोक्ता स्तमो निष्ठायिता स्मृता या स्मृतय वेदबाह्या वेद विरुद्ध वेद के अनुसार स्मृति जितने सब प्रमाण है किसी भी स्मृति में वेद विरुद्ध कुछ आ गया तो अप्रमाण है यास्य काश्य कुदृष्ट है जो कुदृष्टि कुसृत दृष्टि असम ज्ञान है सर्वास्था निष्फला प्रकृता सब व्यर्थ है क्योंकि ताह यत ही तस्मा तमो निष्ठा अज्ञान निष्ठा अज्ञान में स्थित है अज्ञान के अंतर्गत है मुंडक उपनिषद में विद्या का विवाह किया गया परा परा परा विद्या है ब्रह्म विद्या उसको छोड़कर बाकी जितने विद्या है सब अपरा विद्या अविद्या के अंतर्गत है सब विद्या वेद वेद के अंग सारे शास्त्र बहुत जितने हो सब अविद्या के अंतर्गत अपरा है इसलिए सब तो सर्वस्थानिस पला ब्रह्म विद्या ही एक है है में अभिज्ञातम तो जानता के स्मृति से हो गया दी आगे इति विपरीत मिथ्या ज्ञान और अनिष्टत्वाद इति विपरीत मिथ्या ज्ञान और अनिष्टत्वाद ये सम्य ज्ञान मिथ्या ज्ञान उनका है जितने हैं विपरीत ज्ञान मिथ्या ज्ञान सो अनिष्ट है एक विपरीत ज्ञान और एक मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान तो भ्रम है देहादि में अहम बुद्धि है मिथ्या ज्ञान है मिथ्या ज्ञान है देहादि महाबुद्धि अब विपरीत ज्ञान क्या है भिन्नत्वेन ज्ञान विपरीत ज्ञान ब्रह्म मेरे से भिन्न है भिन्नत्वेन ज्ञान हो गया विपरीत ज्ञान और देहादि महाबुद्धि ब्रह्म ज्ञान मिथ्या ज्ञान विपरीत ज्ञान इष्ट है या मिथ्या ज्ञान इष्ट है विपरीत मिथ्या ज्ञान और अनिष्टत्व अनिष्टत्वाद विविधिशा निवृत्ति नहीं होती आगे दिया संग्रह वाक्य अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानतामिति पूर्व हेतु तीर अनुवाद से अनर्थ क्या ये अनु जो दिया है अभिज्ञात विज्ञानतम विज्ञातम अभिजानताम मतम तस्यामतम मतम यस्य नवेदस इसी मंत्र के पूर्वार्ध में जो कहा गया उत्तरार्ध में वही कहा गया क्योंकि विज्ञानतम अभिज्ञातम और अभिज्ञानतम विज्ञातम तो ये अनुवाद करे केवल अनुवाद मानेंगे पूर्वार्ध का ही कथन उत्तरार्ध करेंगे तो व्यर्थ होता है अभिज्ञातम विज्ञानतम विज्ञातम अभिज्ञानतम उत्तरार्ध में क्यों कहा गया पूर्व हेतुक्ति पूर्व कथन से हेतु कथनम पूर्वार्ध में जो कहा गया उसका हेतु दिया गया उत्तरार्ध में हेतु क्यों मानेंगे क्योंकि अनुवाद से अनर्थ अनर्थ क्या है हेतु नहीं मानेंगे तो अनुवाद होगा मानेंगे तो व्यर्थ हो जाएगा जो कहा उसका अनुवाद करें तो व्यर्थ होता है इसलिए पूर्वार्ध में जो कहा गया उसका हेतु कथन उत्तरार्ध में टीका में देखो अभिज्ञातम विजानतामिति उत्तरार्धस्य अर्थम संग्रहितम विवृणति उत्तरा का उत्तरार्ध का अर्थ संग्रह रूप से कहा गया कहाँ संग्रहित है अभिज्ञात विजानताम विज्ञातम अभिजानतामिति पूर्व हेतु अनुवाद से क्या ये संग्रह वाक्य है संग्रहितम संग्रह कहा गया संग्रहितम विभ्रुणति विवरण करते अनुवाद मात्र अनर्थकम वचनमिति पुरोत्तयोर यस्यामतम इत्यादि न ज्ञाना ज्ञानयोर हेत्वर्थत्वेन इदम उच्यते यह संग्रह वाक्य का विवरण अनुवाद से अनर्थ क्या अंत में कहा गया उसकी व्याख्या पहले अनुवाद मात्र अनर्थकम वचनम केवल यदि अनुवाद ही कहेंगे अनुपश्चातवाद कथनम पूर्वार्ध में जो कहा गया वही दूसरार्ध में कहेंगे केवल अनुवाद ही उसका प्रयोजन और कोई प्रयोजन नहीं तो अनर्थक हो जाएगा अनर्थक वचन विधि इसलिए अनर्थक दोष परिहार करने के लिए क्या मानना पड़ेगा हेतु कथन पूर्व हेतुक्ति पूर्वतयोर हेतु पूर्वहित पूर्वोक्तयोर हेतु पूर्व जो कहा गया पूर्व में दो कहा गया यस्यामतम तस्यमतम मतमेस नवेदस दो यस्यामतम तस्यमतम एक और मतम यस नवेद सदुसा हुआ दोनों जो कह गए पूर्वते और यस्यामतम इत्यादि ना यस्यामतम तस्य मतम ये ज्ञान कहा या अज्ञान कहा गया ज्ञान कहा गया मतम यस नवेदस या अज्ञान तो ज्ञान अज्ञान योर ज्ञान अज्ञान पूरा यस्य अमतम तस्य मतम वो ठीक जानता है ज्ञान कहा गया अरे मतम यस्य जो ज्ञात मानता है ब्रह्म को स नवेद स अज्ञानी है तो ज्ञान अज्ञान और हेत्वर्थत्व निदम उच्यते ज्ञान अज्ञान के हेतु उत्तरार्ध में ज्ञान का हेतु है बीजानताम अभिज्ञातम क्योंकि जानने वाले के लिए ब्रह्म अभिज्ञात है विज्ञात से भिन्न है और अज्ञान का हेतु है मतम यस नवेदस्य कस्मात् अभिजानताम विज्ञातम जो अज्ञानी है उनके लिए ब्रह्म विज्ञात ऐसे उनके दृष्टि से होता देह आदि को आत्मा मानने वाले वो विज्ञात होता है ये हेतु हो गया उत्तरार्ध पूर्वार्थ ज्ञान अज्ञान में हेतु है हेत्वर्थत्वेन अयम अर्थ अभी यहाँ तक हो गया ज्ञान अज्ञान हेत्वर्थत्वेन इदम उच्यते इसके व्याख्या है ओम आप्यायन्तु ममांगा